ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि पात्राणश्चक्षुश्रोत्रमथोगेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् ब्रह्मया कुर्याम् मा ब्रह्मया उपनिषद प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड के द्वितीय मंत्र के ऊपर कुछ विचार आरंभ हुआ था जिसमें कहा एक कहानी के रूप में कहा कि एक बार देवता और असुरों की झगड़ा और लड़ाई हो गई देवता असुर देवता और असुर का दो प्रकार की वृत्तियां अंतकरण में हमेशा दो प्रकार की वृत्तियां उठती है कभी दैविक वृत्तियां उठती है कभी आश्रय वृत्तियां उठती है एक दूसरे वृत्ति एक दूसरे को दबोचने के लिए तैयार है यही देवासुर है अध्यात्म में देवासुर का तो दो प्रकार की वृत्तियां और वो वृत्तियां प्रजापति के संतान है कहा प्रजापति कैसे प्रजापति यहां वो जो वृत्तियां जिसकी उठती है कर्म और उपासना का अधिकारी यहां प्रजापति शब्द का जो कर्म करने में और उपासना करने में अधिकारी पुरुष है उसी के अंतकर्म में दो प्रकार की वृत्ति उठती है इसलिए वो प्रजापति वही है उसे दो प्रकार की वृत्तियां उठती है एक दूसरे को नष्ट करना चाहती है उस स्थिति में दैवी वृत्तियों ने सोचा हम उदगीत के द्वारा असुरों को विजय प्राप्त करेंगे तो उदगित कर्म का सहारा लेना चाहा तो उदगित माने ओंकार की उपासना है वैसे हो नहीं सकता ये कर्मांग अवगत उपासना प्रकरण चल रहा है तीन प्रकार की उपासना है मुख्य रूप से कर्मांग अवबद्ध उपासना अभ्युदय साधन उपासना और कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना तीन प्रकार की उपासनाएं होती है मुख्य रूप से उन्हीं प्रतीक है अध्यास है संपद है उसी में आ जाते हैं सब या अभ्युदय साधन वाले में आ जाते हैं प्रतीक उपासना अध्यास उपासना और संपद उपासना मतलब संपद में होता है कि गुण का आधार करके उपासना करना है और अध्यास में अन्य में अन्य रूप से उपासना करना है जैसे मनोप्रमित उपासना जब जानते मन ब्रह्म नहीं है किंतु मन को ब्रह्म करके कहेंगे तो फल मिलेगा अध्यास है और संपद उपासना है गुण का विधान करना है गुण का विधान करके उपासना करना है अपने इष्ट की वह संपद उपासना है प्रतीक उपासना प्रसिद्ध है जैसे मूर्ति आदि में हम भगवत उपासना करते हैं ये प्रतीक उपासना सब ये अभ्युदय में आ जाते हैं अभ्युदय साधन वाले हैं तो तीन प्रकार की उपासना मुख्य रूप से है कर्मांग अपबद्ध उपासना शास्त्र में चर्चित दूसरा अव्यदय साधन उपासना और तीसरा है कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना जिसको अहंग्रह उपासना कहते ये अभी जो प्रकरण शाम के में चल रहा है अंगा अवबद्ध उपासना केवल उपासना नहीं होगी कोई कर्म होगा उस कर्म में किए जाने वाली उपासना या ओंकार की उपासना का विधान है किंतु ओंकार तब होगा जहां उद्गान कर्म होगा वो उद्गान कर्म कहां होता है ज्योतिष्टोमादि याग में होता है तो यहाँ ओंकार उपासना करने वालों को इस प्रकार के जो उपासक होगा उसको ज्योतिष टोमादि एक ही करना पड़ेगा उसके अंग बनता है उद्गान और उसका अंग बनता है उपासना ये उद्गीत उपासना ऐसा है वही प्रकरण में कहा गया है तो इन्होंने दैवी वृत्तियों ने यज्ञादि का अनुष्ठान किया और इस ओंकार उपासना करने के लिए नासिका दृष्टि से ओंकार उपासना की बोलना चाहते हैं नासिका दृष्टि से करना चाहेंगे तो किंतु नासिका में एक अभिमान है जो शरीर के लिए जो सुगंध का ग्रहण होता है मेरे कारण ही होता है और कोई कारण नहीं किंतु कोई भी कार्य होगा अकेले से नहीं होता सबके समूह से होता है शरीर होगा तो नासिका रह पाएगी ग्रहण कर पाएगी शरीर होगा हस्त आदि के द्वारा कोई पुष्पादि लाए जाए तब भी इसके द्वारा ग्रहण हो पाएगा आंख से देखना होगा सब सब मिलकर के होगा वो जो सुगंध का ग्रहण करने का काम अकेले नासिका से नहीं होता सबका उपकार है किंतु वो समझती है मैं मेरे ही काम नहीं है इसलिए उसको आसक्ति है अभिमान है उसी अभिमान के कारण वो जो आसुरी वृत्ति इसको दबोच डालते हैं जहां अभिमान आ जाता है तो आसुरी वृत्ति दबोचती है ये कहानी से पता लग जाता है तो उसको जब आसुरी वृत्ति दबोचती है पाप से वेदित कर जाते हैं उसकी आसक्ति है अभिमान है ये पाप से वेदित कर देते हैं तो उद्गान कर्म करने में सफल नहीं होंगे देवता लोग फिर आगे जाकर के वाणी को सहारा लेना चाहेंगे स्रोत्र को चक्षु को मन को सहारा लेना चाहेंगे सफल नहीं होगा अंत में मुख्य प्राण पहुंचेंगे देवता लोग सफल हो जाएगा ये बोलना चाहेंगे ये मंत्र हो गया था तेह नाशिक हम प्राणम हम उपासन सकृति कहा था नाशिका में चलने वाला प्राण माने ग्रहण ग्रहण क्रिया है उसको उद्देश्य करके उपासना कर रहे हैं ओंकार की क्यों ओंकार का ही प्रकार है उपासना यहाँ तम हा आसुरा पापना विबुधु कहा उन आसुरी वृत्तियां आसुर हैं उन्होंने पाप से वेधित कर दिया उसको क्यों वो आसक्ति रूपी पाप है उसके पास अभिमान है कल्याण करने करने वाले मैं ही हूं मेरे कार्य ये सबको कल्याण करने मिल रहा है जैसा अन्य इंद्रिया शरीर सबको जो मिल रहा है मेरे कारण है मैं ही हूं ऐसा अभिमान है तो उसी कारण वेदित कर दिया उसको तस्मात तेरह उदय जगत का इसलिए उससे दोनों का ही ग्रहण होता है संसार में व्यक्ति दोनों का ग्रहण करता है सूर्य भी गंधा और सूर्य गंधा भी यहां पर उभय शब्द का अर्थ एक ही के लिए प्रयोग है सूर्य भी तो पुण्य कर्म का फल है यहाँ आसुर वेदित है ही नहीं ऐसा यहाँ आगे बताएंगे भाष्य आदि में गंध मान दुर्गंधी को भी ग्रहण करना पड़ता है असुर भी गंध को ग्रहण करना पड़ता है पाप से वेदित है ये नाशिका इसलिए कहा सूरभि चतुर्गन पाप पापना ही है सविता का ये नासिका में रहने वाला जो प्राण है ग्रहण किया पाप से पीड़ित है दुर्गंध पाप के द्वारा पीड़ित है ऐसे बताया था भाष्य में कहते हैं चेत का पहले संप्रति उद्गीत आहरण प्रकारम प्रकटेगी उद्गीत का गान करना है उपासना करनी है उसके आहरण किस प्रकार होता है उसको प्रकट करते हैं यदाच इत्यादि भाष्य में कहा हुआ है मूल मंत्र है वो यदाच तद उदगित हम कर्म आशीर्षव तदा मूल मंत्र का प्रतीक दिया भाषण में जब उद्गीत कर्म करने का विचार किया उन्होंने इच्छा की उस स्थिति तो फिर उद्गीत कर्म के लिए किसको स्वीकार किया नाशिकारण प्राण को ऐसा बोलना चाहते हैं ठीक है भाष्य में कहते हैं ते वाह ये देवता जो है जो दैवी वृत्ति वाले हैं ये देह देवा नासिकम नाशिकायाम भवम चेतनावंतम घ्राणम प्राणम उदगीत कर्तारम उद्गातारम उदगीत भक्त्या उपासना चक्र उपासन कृतवंत इत्यर्थ ये मंत्र का अर्थ किया है वो देवता जो दैवी वृत्ति वाले देवता है यहाँ देवा अर्थ देवता ये दैवी वृत्ति है इन्होंने नाशिक्यम नाशिका में होने वाले को नाशिक्यम बोला जाता है शरीरावयवाद यत यत प्रत्यय लगा है नाशिक्यम नाशिकायाम भवम नाशिका में चलने वाला जो प्राण है चेतनावंतम नासिका जड़ है इसलिए कहा चेतना वाली युक्त है वो घ्राण मान प्राणम घ्राण रूपी जो प्राण है उदगित कर्तारम उद्गान कर्ता रूप से उदगित भक्त्या उपासना चक्र उद्गात कर्म के अवय रूप से उपासना की उदगित कर्म है उद्गान कर्म है उसका अवयव है उनका उसकी उपासना की किंतु ये तो मंत्र का जैसा था पदसा अर्थ किया किंतु तात्पर्य भाष्यकार बोलते हैं नासिक प्राण दृष्टिया उदगीत खाख्यम अक्षरम ओंकार उपासना चाहिए माने नासिका घ्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना की नासिका की उपासना नहीं की जो प्रकरण ओंकार की उपासना का है ये तात्पर्य बताते हैं भाष्यकार नासिक प्राण दृष्टिया नासिक प्राण दृष्टि के द्वारा उदगीत आख्यम अक्षरम ओंकार उदगीत नाम से कहा गया जो अक्षर ओंकार है उसी की उपासना की है क्या आता है कहा एवं ही ऐसा अर्थ करने पर नासिका की उपासना नहीं ओंकार की उपासना है ऐसा अर्थ करने पर प्रकृतार्थ परित्यागो अप्रकृतार्थ उपादान तो नकृतम से प्रकृत अर्थ ओंकार की उपासना उसका परित्याग भी नहीं होगा और अपरकृत अर्थ जो नासिका की उपासना का विधान नहीं है उसके ग्रहण करना यह भी नहीं होगा दोनों ठीक हो जाएगा कहा जो तो नासिका दृष्टि से ओंकार की उपासना की ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या होगा प्रकृत अर्थ का परित्याग भी नहीं होगा और अप्रकृत अर्थ का उपादान माने ग्रहण भी नहीं होगा ये फल होगा क्यों प्रकृति यही है प्रथम अध्याय के दशम मंत्र में कहा था दशम खंड में कहा था हलु एत अक्षर से उपव्याख्यान भगवत इसी अक्षर का ही उपव्याख्यान और ओंकार की व्याख्या करने आगे ऐसा कहा था हलु एत अक्षर से ओंकार अक्षर से ओंकारो ही उपासतया प्रकृत हाँ। उपा, उपास्य रूप से ओंकार ही प्रकृत है ओम इति तद अक्षर उदगित उपासित फल एतस्व अक्षर उपव्याख्यान बहुत प्रथम मंत्र में था तो उपास्य रूप से ओंकार की चर्चा है तो ओंकार ही लिया ना उपासना या नासिका प्राण की नहीं उपासना ओंकार की है ये अर्थ करना कहा आगे पूर्वादि शंका करता है ननो उद्गीत उपलक्षितम कर्म आश्रितवंता इतनी अवोचा पहले तो कहा आपने पूर्व मंत्र में इसी के प्रथम मंत्र में कहा था दिव्य खंड के प्रथम मंत्र में उद्गीत से उपलक्षित जो कर्म है उसको आहरण किया देवताओं ने ऐसा कहा था उद्गीत को नहीं कहा उद्गीत के के द्वारा जो उपलक्षित कर्म होता है उद्गान कर्म तो उद्गीत माने ओंकार उसके द्वारा उपलक्षित कर्म का आहरण बंद अवोचा पहले आपने ऐसा कहा इदानी में तुरंत दूसरे मंत्र में आकर के प्रथम मंत्र में तो कहा था कर्म किया आपने कहा था इदान कथम नासिक प्राण दृष्टा ओंकार उपासना चक्रिया ओंकार की उपासना कैसे बोलते हैं वहां कर्म कहा था पूर्व मंत्र में हाँ। उदगित के द्वारा उपलक्षित जो कर्म है उदगान कर्म उसका आहरण किया ऐसा पूर्व मंत्र में कहा आपने और तुरंत ही इस मंत्र में कैसे बदल गया आप या ओंकार की उपासना बता रहे हैं आप ये कैसे हुआ इधान में कथम नाशिक प्राण दृष्टि ओंकार उपासना चक्रिया था ऐसे कैसे कहते हो आप शंका आ तो भाष्यकार बोले नहीं सदोष सकते दोष नहीं क्यों उदगीत कर्मणी एवं ही तत्कर्तृ प्राण देवता दृष्टिया उदगीत भक्ति अवैश्व च ओंकार उपास्यत्व ने विवक्षित ये उदगित कर्म में ही जो उदित कर्म होगा उद्गान कर्म उसी में ही तत्कर्ती जो उद्गान कर्म करने वाला जो व्यक्ति होगा प्राण देवता दृष्टिया उस कर्ता क्या काम करता है प्राण दृष्टि देवता दृष्टि तो विधान देवता दृष्टि के द्वारा उद्गित जो ओंकार उपासना मोक्ष उसके लिए है उद्गित के अवय ओंकार की उपासना उसके लिए है उद्गित कर्म में ही हो रहा है इसलिए पूर्व का परित्याग नहीं रहा ये भाष्य उद्गित कर्म नहीं होगा तत्कर्तृत्व उसको करने वाला जो व्यक्ति होगा उस कर्म करने वाला प्राण देवता दृष्टि हमारे घ्राण देवता दृष्टि के द्वारा उद्गीत भक्ति अवयव शब्द उद्गीत का एक भाग है उद्गान का एक भाग होता है ओंकार हाँ, उद्गीत का जो अवयव है ओंकार उपास्य विवक्षित और ओंकार उपास्य विवक्षित है न स्वतंत्र स्वतंत्र ओंकार की उपासना नहीं है यहाँ कर्मांग अवबद्ध उपासना है इसलिए कर्म आहृत मंत्र जो पूर्व मंत्र कहा था कोई ठीक ही है अयुक्त नहीं कहा अतः तादर्थ है ना कर्म आहृत मंत्र ओंकार की उपासना करने के लिए कर्म किया उन्होंने उदगित कर्म का आहरण किया युक्तम एवं उत्तम ये ठीक ही कहा पूर्व मंत्र जो कहा ठीक है ऐसा तम एवं देवैर वृत्तम उद्गातारम जो देवताओं ने दैवी संपत्ति है दैवी वृत्तियों ने जो जिनको स्वीकार किया था वरण किया था जिस उद्घाता को नाशिका प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना करनी थी उसको हाँ असुरा तो असुर क्या है स्वाभाविक तमात्मन यही है असुर स्वाभाविक की वृत्ति जो अज्ञान स्वरूप वृत्ति है वही है उसने क्या किया पाप मना विविधु उसको पाप से विविध कर दिया किसको तम से लेना ज्योति रूपम जो प्रकाश स्वरूप था इसको नासिकम प्राण जो नासिका में चलने वाला प्राण इंद्रिय प्रकाश स्वरूप है स्वच्छ है उसको पाप से व्यतीत करते हैं एवं वो देवता है उसको सो उत्थेन पापना अधर्म आसंग रूपेण विद्यु विद्यवंत उसी नाशिका में उत्पन्न जो पाप है क्या पाप उत्पन्न हुआ कहते अधर्म और आसंग दो है वहां आसक्ति हो गई जो मैं कल्याण ग्रहण गंध करती हूं मेरे कारण इस को मिल रहा है मैं ही हूं इन सबके कारण कल्याण गंध हो रहा है ये नहीं समझती है कोई भी कार्य होता है समष्टि से काम होता है दृष्टि से कोई काम होता है अकेले से कोई काम नहीं होता है ये कल्याण गंध ग्रहण करने के लिए पुष्प चाहिए पुष्प जिसमें रहा होगा वो भी चाहिए भूमि भी होगी और अन्य इंद्रिया भी इसमें सहयोगी हैं शरीर ना हो तो नासिका कहां बैठ करके कल्याण गंध करेगी कल्याण गंध करने के लिए शरीर की भी आवश्यकता है शरीर नहीं, नहीं कर सकती है किंतु उसका अभिमान है मैं ही करने वाले हूं यही अभिमान है ये आसक्ति है यही पाप है इसी के द्वारा पाप मना अधर्म असंग रूप है ना जो अधर्म और आसक्ति रूप पाप है उसे विविधूर असुर मृत्यु ने उसी के उसी से उत्पन्न जो पाप है उसी से भेद डाला नासिका में पाप है जो कोई भी कर्म मैं अकेला करता हूं ऐसा समझता हो उसमें जरूर पाप है अकेला कोई काम होता ही नहीं है कोई भी काम करेंगे गीता के अष्टादश अध्याय में कहा है अधिष्ठान कहा कर्ता करणम तो पृथक विदम द्विविदास से पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचम कोई भी कार्य करने के लिए पांच व्यक्ति तो जरूर रहेंगे वहां पांच के बिना कोई काम ही नहीं हुआ जहां बैठ के काम करेंगे अधिष्ठान अधिष्ठान चाहे बाहरी कर्म करना तो भूमि चाहिए भीतर का कर्म करना शरीर चाहिए कोई ना कोई तो होगा अधिष्ठान चाहिए जहां बैठ के काम करना है अधिष्ठान तथा तो और करने वाला व्यक्ति की भी जरूरत होगी अधिष्ठान तथा करता और करण से तो पृथक विदम विभिन्न प्रकार के इंद्रियों की आवश्यकता है देखने का होता तो चक्षु की आवश्यकता है सुनने का होता तो स्रोत्र की आवश्यकता है उस कर्म के लिए तभी सिद्धि सिद्ध होगा आपका कर्म हाँ। स्पर्श करने का होगा तो तुम इंद्र की आवश्यकता होगी लेन देन का प्रसंग होता है हस्त इंद्र की आवश्यकता होगी ये होगा तो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विलम विभिन्न प्रकार के कारण कौन कर्म हो रहा है किस कारण की उपयोगिता वहां होनी है विविधा से पृथक चेष्टा भिन्न भिन्न जो अधिष्ठात्री देवता होंगे उसमें उनकी चेष्टा भिन्न भिन्न व्यापार होंगे इंद्रियों की और दैवम चैवात्र पंचमम और अधिष्ठात्री देवता तो पांचम पांच व्यक्ति के बिना कोई काम नहीं होता कोई भी कार्य करते समय उसमें जो अकेला नहीं करना हो बोलते हैं वो अभिमानी है गुणात्मा है अहंकार विगुणात्मा ऐसा कहा है करता हम इति मनते ऐसा आया है तो नासिका में एक अभिमान है कल्याण गंधक ग्रहण करने वाली मैं हूं मेरे कारण ही सबको एक कल्याण गंधक ग्रहण करने का फल मिल रहा है ये जो अभिमान है आसक्ति है वही अधर्म है वही पाप है सो उत्थ पाप वही है नासिका के द्वारा उत्पन्न पाप के द्वारा उसी के पाप से उसी को भेद करते ऐसी विवृत्तियों ने मौका मिला उनको नासिका में अभिमान देखा ये कहा सो न पापना अधर्म आसंग रूपेण विविधुर विविधवंत आश्र वृत्तियों ने उसको वेदित कर दिया नासिका के प्राण को संसर्ग कृत संबंध कर दिया उसी के द्वारा उत्पन्न पाप उसमें जोड़ दिया संसर्गवंत कृतवंत इत्यादि कहा सही नासिक के प्राण वो जिस नासिक के प्राण में पाप कैसे पैदा हुआ कहते हैं सही नासिक के प्राण जो नासिका में चलने वाला प्राण मैंने घ्राण इंद्रिया कल्याण गंध ग्रहणाभिमान आशंका अभिभूत विवेक विज्ञानों का भूगा जब पाप से वेदित होता है तो जो नासिक के प्राण है ग्रहण इंद्रिय है कल्याण गंध ग्रहण में अभिमान है उसका उसी से द्वारा उत्पन्न जो आशक्ति है उसके द्वारा अभिभूत हो गया विवेक विज्ञान उसका कल्याण गंधक ग्रहण करने का जो अभिमान रूपी आशक्ति है उस आसक्ति के कारण अभिभूत हो गया दब गया कौन विवेक विज्ञान नष्ट हो गया विवेक विज्ञान उसका ऐसा हो गया स तेना दोष एक दोष के कारण वो नाशी के प्राण में उस दोष के कारण विवेक विज्ञान नष्ट हो गया उसका ऐसे होने से पाप संसर्गी बहुत पाप के साथ संबंधी हो गया तद इदम उत्तम असुरा पापना विधि यही श्रुति ने यही कहा असुरा हा पापना विद्युत यही शब्द से कहा और कुछ नहीं कहा यस्मात आसुरण पापना विद्युत जिससे कि असुर संबंधी जो पाप है उसके द्वारा वेदित हो गई नासिका ग्रहण इंद्रिया तस्मात के न पाप मना प्रेरित हो ग्रहण उस पाप के द्वारा प्रेरित जो प्राण है ग्रहण इंद्रिय ग्रहण वाले प्राण दुर्गंध ग्राहक का प्राण दुर्गंधि ग्राहक हो गए प्राणी होगा ऐसा है दुर्गंधि को ग्रहण करना पड़ेगा उसको वो तो नासिका दुर्गंधि ले लेती है सबको ग्रहण करना पड़ेगा प्राणी होगा जो तो दूषित है वो आसक्ति के कारण अतस्तेन ओव्यम जिग्रति इसलिए दोनों का ग्रहण करना पड़ता है उसको नासिका के द्वारा जिग्रति लोका लोक उभय जिग्रति न प्राण उस नासिका भी प्राण के द्वारा लोक उभयम जिग्रति सूरभि दुर्गंधि दोनों ही असुर गंध ग्रहण करता है सूरभि च दुर्गंधि च कहा पापना ही ऐसा विद्ध ऐसा यस्मात विद्ध है क्योंकि ये ज्ञान रूपी प्राण इंद्रिय जो है ये पाप से वेदित है उसका अभिमान है कल्याण का अंदर जिनको जो मिल रहा है मेरे कारण मिल रहा है मैं ना हूं तो कहां होगा ऐसा अभिमान यह नहीं कि इनके कारण से मैं कल्याण अंदर ग्रहण कर रहा हूं ऐसा नहीं है उसको सोचना चाहिए शरीर नहीं तो नासिका कहां रखी कल्याण अंदर करेगी पुष्प नहीं होगा तो क्या होगा किसका करेगी गंध ग्रहण किंतु अभिमान ऐसा है उभय ग्रहण अविवक्षितम यह श्रुति में जो उभयम जिग्रति कहा है उभय ग्रहण कोई विवक्षित नहीं है यहां तो प्रसंग किसका है दुर्गंधी ग्रहण के विषय में प्रसक्ति है इसलिए दुर्गंधी को भी ग्रहण करना पड़ता है वो ना सूर्य भी तो है ही है उसके पास वो तो कोई पाप से वेदित नहीं है ना पाप से वेदित न होने पर सूर्य भी होना है तो उसके लिए तो यहाँ उभय शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए किंतु श्रुति में उभय शब्द का प्रयोग कर दिया उभय ग्रहण अविवक्षित हम भाष्यकार कहते हैं उभय ग्रहण कोई विवक्षित नहीं है क्यों जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है प्रयोजन न होने पर भी ऐसा शब्द का प्रयोग होता है पूर्व मीमांसा में ऐसा प्रयोग किया है कहते हैं यश उभयम हबीर आरतिम आरक्षति यदवत यदवत जिस प्रकार पूर्व मीमांसा में कोई मंत्र आया हुआ है गुरु जी ने उद्धर दिया है प्रथम तंत्र में प्रथम अध्याय में दिया है यश उभयम हबीर आरतिम अर्चति किसी कौए कोते आदि के दोष के कारण हबीर दूषित हो गई जिसकी जिसकी दूषित हो गई ऐसा आया उसके लिए आगे प्रायश्चित का विधान किया है ऐसा विधान बताया हुआ है तो वहां पर उभय शब्द आया किंतु दूषित क्या होगा कौए कुत्ते के संसर्ग होने पर ही तो दूषित होगा नहीं तो दूषित नहीं होगा ना तो यहां उभय शब्द का प्रयोग एक ही में प्रयोग है दूषित हावी यदि दूषित हो गई हो उस स्थिति में उसके लिए प्रायश्चित करना है ऐसा माने दिया है वहां पूर्व तंत्र में कहा मैंने प्रथम अध्याय में मीमांसा में ऐसा कहा है या उभय ग्रहण विवक्षित नहीं एक ही के लिए कहा है जब अभी दूषित नहीं होगी तो क्यों वो प्रायश्चित करेगा अभी दूषित होने पर ही करेगा उभय शब्द का प्रयोग ऐसे में प्रयोग होता है करके बोलना चाह रहे हैं इसी प्रकार यहां भी समझना या उभय ग्रहण विवक्षित नहीं है यदेव अप्रतिम रूपम जिग्रति इति समान प्रकरण होते जैसे यहां छांदो में उल्लिखित प्रकरण आया है वैसे वहां इसमें वृद्धारण्य में भी ऐसे प्रकरण है तो वृद्धारण्य में कहा है यदेव अप्रति यदेवम अप्रतिरूपम जिग्रति जो माने दूषित स्वरूप को जो ग्रहण करती है इंद्रिया दुर्गंधि को ग्रहण करती है आया वही पाप से वेदित है सुगंधि वाला नहीं है तो इसलिए यहां भी एक ही लेना होगा दो नहीं लेना होगा वहां एक ही को लिया है अप्रतिमम रूपम जिग्रति आया जो दूषित वाला है उसको ग्रहण करती है आया मैंने पाप से वेदित होने पर दूषिता ही ग्रहण करना है सूर्य का नहीं एक वहां भी ऐसा गिरफ्तार है इसलिए यहां पर उभय ग्रहण अविवक्षित है कहा टीका से स्पष्ट हो जाएगा टीका से देखा अचेतन से करण से उद्गात्रित्व असंभवाद विषय अचेतन जो करण है इंद्रिया उसमें उद्गात्रित्व तो धर्म होना संभव नहीं कैसे होगा तो विशेषण लगाते हैं क्या चेतनावंतम का चेतनावान है वो चेतन के सान्निध्य से चेतना है उसमें तो चेतन का सान्निध्य बुद्धि में है बुद्धि का सान्निध्य मन में है मन का सान्निध्य इंद्रियों में है तो चेतना का चेतन का सान्निध्य होने से चेतनावान है वो जैसे अग्नि के सान्निध्य से लोहे भी जलाने का काम कर जाता है अयोडहती बोलते हैं उसी प्रकार चेतन का सानिध्य प्राप्त करके चेतनावान हो रखे ऐसा कहा चेतनावंतम ये विशेषण लगाया मुख्यम प्राणम व्यावध मुख्य प्राण नहीं या प्राण शब्द का अर्थ क्या कहा घ्राणम बोला नाश्य के प्राण माने घ्राणेन्द्रिय के लिए चर्चा है यहां त्वम्न उदगाय इति समय का श्रुति में आश्रित है वहां कहते त्वम्न उदगाया ऐसा बोलते तुम उदगान करो हमारे लिए ये दैवी वृत्तियां ऐसे बोलती है नासिक के प्राण को बोलते तुम उद्गान करो वहां तुम न उदगाय न असमान प्रति तुम उदगाय ऐसा शब्द आता है वहां ये कहा उदित कर्ता आरम बोल दिया है उदित कर्ता की नाम यहां नहीं है वहां तुम न उदगाय करके वृद्धारण्य में कहा हुआ उसी को लेकर के उदित कर्ता बोला अथ उदगित भक्ति श्रूयते न तो न तो उदगात तद कथम तद उपासन आशंका कहते हैं यहां तो उदगित उदगीतम उपासन चक्रिय ऐसा मंत्र में आया उदगीत का भाग आया है तो उद्गाता का मतलब नाम ही नहीं है मंत्र कहां से उद्गाता आ गया प्रश्न है यहां तो गाया तेह नासिकम प्राणम उदगीतम उपासन चक्रिय आया नासिका प्राण जो उदगीत है उसकी उपासना की तो यहां उद्गाता का नाम तो है नहीं ये कैसे आपने बोल दिया ये शंका ही अथा उदगित भक्ति रेव सुनते उदगित का भाग अवय ओंकार यहां सुनाई पड़ता है न तो तद उदगाता उदगाता का नाम तो नहीं है यहाँ तत्कथम तद उपासना या फिर उसकी उपासना कैसी होगी नासिका को उदगाता बना के यहाँ उपासना कैसी होगी तब कहते हैं उदगित भक्त्या इत्यादि कहा उदगीत भक्त्या उपासना चक्रिय कहा उदगित कर्म है हाँ, उसी के अवैध रूप से उपासना की यह किया तया उपलक्षितम उदगातारम उपासना नासिका प्राण से के द्वारा उपलक्षित जो कर्म के द्वारा उदगित भक्ति के द्वारा जो उपलक्षित कर्म उदगाता है उसकी उपासना की जाता है कथम उपासना उपासना कैसे की इति अपेक्षायाम ऐसे अपेक्षा होने पर उदित कर्तृत्व प्रार्थनाया उदगित कर्ता की प्रार्थना के द्वारा कृतवंत ऐसा कहा उपासना चाहिए प्रार्थना की यह आता आएगा आगे कहते हैं तेह नाशिक्यम यदि अक्षर उत्तम अर्थम उक्ता वाक्यार्थम तेह नाशिक्यम प्राणम उद्गीतम उपासना जैसे शब्दावली थी उसका अर्थ कर दिया मंत्र के जैसा शब्दावली के ऊपर अब वाक्यार्थ बताते तात्पर्य अर्थ अलग है यही अर्थ नहीं यहाँ नाशिका प्राण की उपासना है कि ओंकार उपासना की है नाशिका प्राण दृष्टि से ओंकार उपासना क्यों प्रकरण ओंकार उपासना की है ये वाक्यार्थ ऐसा लेना चाहते हैं भाष्यकार ये कहा तेह नाशिक्यम ये अक्षर उत्तम अर्थम उगता जैसे मंत्र में था वैसे अर्थ बता दिया अक्षरोक्तम शब्दार्थ कर दिया अब अर्थ बताते हैं नाशिक्य प्राण दृष्टिया उदगी खाक्यम अक्षरम उपासान चतुर्वे इत्यर्थ यात है नासिक प्राण दृष्टि से उदगित जो ओंकार है उसकी उपासना की अर्थ है नासिक प्राण की उपासना नहीं है ओंकार की है किमिति अक्षरम ओंकाराख्यम योपाश्य व्याख्या यहाँ नासिक प्राणम उपासना चक्र जैसा आया हुआ मंत्र में वो तो प्राण की उपासना घ्राण की उपासना दिख रही है आ, आप ऐसी व्याख्या क्यों करते हैं कि नहीं नासिक प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना क्यों करते हो ये प्रश्न होगा किम यदि अक्षर अक्षरम ओंकाराख्यम यह उपास्यत्व व्याख्या व्याख्या है यहाँ अक्षर जो ओंकार की उपासना की करके ऐसी व्याख्या क्यों किया जाता है तथा उसके उत्तर में कहा देखो ऐसा अर्थ करने पर प्रकृति का परित्याग नहीं होगा और प्रकृति का ग्रहण भी नहीं होगा न तो दोष आ जाएगा प्रकरण था ओंकार की उपासना की उसका परित्याग के प्राण की उपासना मानने पर अप्रकृति का प्राण की उपासना की चर्चा दो दोष आ जाएगा एक उत्तर देते हैं एवं ही भाष्य में कहा जब नाशी के प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना की ऐसा अर्थ करेंगे तो क्या होगा प्रकृतार्थ हो अप्रकृतार्थ उपादान तो नजर दंशा ये दोनों दोष से मुक्त हो जाएंगे प्रकृत अर्थ ओंकार की उपासना उसका परित्याग भी नहीं होगा और अप्रकृत अर्थ नासिक प्राणी की उपासना भी नहीं दोनों दोष से मुक्त हो जाएंगे ये बताया स्फुट आई थी इसी की पृष्टि करते हैं प्रकृत अर्थ क्या था तो कहते हैं प्रकृत अर्थ यही था खलु ये तस्व अक्षर उपव्याख्यानम भवती ऐसा था मंत्र शुरू में ऐसा आया था ओम इति तद अक्षर उद्गितम उपासित खलु तस्व अक्षर उपव्याख्यानम भवती इसी अक्षर के ही व्याख्यान है आगे तो उदगित ओंकार है यही उपास्य करके कहा और इसी की व्याख्या बोला हुआ सारी व्याख्या उसी की चल रही है इसलिए ओंकार की उपासना लेनी होगी ये बताया ठीक है हम कहते हैं तथा घ्राण घ्राण से उद्गात्री दृष्टिया उपासना प्रकृति से प्रकृता देखो घ्राण को उद्गाता दृष्टि से उपासना कर प्रकृति जो ओंकार की उपासना का परित्याग हो जाएगा एक दोष आ जाएगा परित्याग और भक्तेश घ्राण प्राण दृष्टिया उपासित होंगे कार्य प्रकृत अप्रकृत उपादान ये भी एक दोष आ जाएगा और उसके अवयव लेकर के घ्राण प्राण दृष्टि से उपासना करेंगे तो क्या होगा अप्रकृति का उपादान होगा मैंने प्रकरण नहीं था उसको ग्रहण करना यह भी दोष आएगा इसलिए पूर्वापर विरोध हम आशंका थे पूर्व मंत्र भी इस मंत्र में दोनों में विरोध बोल रहे हैं आप ऐसे पूर्वाधि शंका करता पहले कहा था कर्म आहित कहा था कर्म का अवजा उपासना ओंकार उपासना पूर्व मंत्र ये मंत्र साक्षात इसी में यही शंका है पूर्वादि की ननु करके शंका उठाई ननु उदगीत उपलक्षितम कर्म आहृतवंत पूर्व मंत्र में आपने ऐसा कहा था यहीं पर देवताओं ने उदगीत कर्म का आहरण किया ऐसा कहा पूर्व में ऐसा कहा और इदानी व्यक्त ठीक इसी में अब इस मंत्र में आकर के कथम नास्तिक प्राण दृष्टि ओंकार उपासन चक्र अर्थ अब ऐसा कैसे कहते हो आप नासिक प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना की पूर्व में कर्म का हरण किया कहा पूर्व मंत्र में और इस मंत्र में आ गए ओंकार की उपासना कैसे बोलते हो ये शंका आ गई तो इसमें उत्तर देते हैं टीका में कहते हैं उदगीत उपलक्षित अवगात्रेणा उपलक्षणम ज्योतिष टोमादि कर्म आयतन उत्तम पूर्व मंत्र में कहा था उदगीतम उपासन चक्र उद्गीत का अर्थ क्या किया उदगित द्वारा उपलक्षित होता है औदगात्र कर्म उदगान कर्म उदगित के द्वारा उपलक्षित होता है कर्म क्यों उदगित का संबंध है कर्म के साथ उद्गान कर्म और उदगान कर्म कहाँ होता है ज्योतिषोमादि उसके द्वारा उपलक्षित तो कर्म से उपलक्षित होगा ज्योतिषोमादि लक्षित लक्षण ऐसा माने उदगित के द्वारा लक्षित होगा औदगात्र कर्म और उस कर्म के द्वारा लक्षित होगा ज्योतिषोमादि याग ये चर्चा है ये कहा उद्गीत उपलक्षित औदगात्र उदगीत उद्गीत के द्वारा उपलक्षित होता है औदगात्र कर्म उसके द्वारा फिर उपलक्षित होगा ज्योतिषमादि कर्म जब उद्गीत का उपासना करना है तो उद्गान चाहिए उद्गान करना हो तो ज्योतिषमादि यज्ञ चाहिए तो ज्योतिषमादि यज्ञ होगा ये कहा ज्योतिषमादि कर्म आहितम यदि उत्तम ज्योतिषमादि कर्म को कहा ऐसा पूर्व मंत्र में कहा था और अभी यहां पर कहते हैं क्या उत्तम और तद आहरण और वो उसका ज्योतिषवादी कर्म का आहरण कब होगा तस्य उपासनम तद आहरण च तस्य उपासनम तद विरुद्धम ये पूर्वादि कह रहा है पूर्व में आपने कहा था उद्गीत द्वारा उपलक्षित औदगात्र कर्म है उस औदगात्र कर्म के द्वारा उपलक्षित ज्योतिषवादी या कर्म है वो आहरण किया उसका आहरण होगा तस्य उपासनम तद विरुद्ध उसका उपासना करना फिर इसकी यहां जो उदगित की उपासना करना ये विरुद्ध होगा तो कर्म का आहरण करना और उदगित उपासना करना विरुद्ध होगा यही है तद विरुद्धम नासिक प्राण दृष्टा अक्षर उपासना वचन उसके द्वारा यहां पर उसका आहरण करना मैंने उसका उपासना थी कर्म की अब उसके विरुद्ध यह है कि नासिक ग्रहण दृष्टि के द्वारा ओंकार की उपासना करने में विरुद्ध होगा उपादान विशेषण ऐसा पूर्वाजी ने कहा विरुद्धम नाशिक प्राण के साथ अक्षर उपाधि विरुद्धम सो उत्तेर मिथो विरुद्धम परिवर्तित सिद्धांति अपने जो कथन है उसमें विरोध का परिहार करते हैं नैश दोष ने कहा क्या कहा तो उदगीत कर्मण ये वही तत्कर्तृ प्राण देवता दृष्टिया उदगीत भक्ति अवश्य ओंकार उपास्य सुरक्षिता न स्वतंत्र ओंकार की उपासना स्वतंत्र यहाँ नहीं है उदगित कर्म ही है यहाँ ज्योतिषमादि याग हो रहा है उसमें उद्गान कर्म के लिए नासिक के प्राण को उद्गाता विषय परम करना चाहते हैं ये कहा उदगित कर्मणी ये वही तत्कर्ती जो उदगित कर्म करने वाला करता होगा उसके प्राण दृष्टिया और प्राण देवता दृष्टि से उदगित भक्ति भाग का जो अवय ओंकार है उसको उपास्य तो ओमकार उपास्य है कहा क्योंकि स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र उपास्य नहीं उपकार अतः तादर्थ है न कर्म है तो इसलिए ओंकार की उपासना करने के लिए कर्म किया जाएगा युक्तम है उत्तम इत्यादि बोला ठीक है उदगीत उपलक्षित कर्म उपलक्षित ज्योतिष माधव उद्गीत एक उपासना है उसके द्वारा उपलक्षित कर्म होता है उद्गान कर्म और उस कर्म के द्वारा उपलक्षित होता है ज्योतिष माध्यम लक्षित लक्षणा बोलते हैं उसको दो बार लक्षणा करना लक्षित लक्षण दो बार लक्षण करके अर्थ लिया जाता है उद्गीत उपलक्षित कर्म उपलक्षित है ज्योतिष माधव उद्गीत के द्वारा उपलक्षित जो कर्म होता है उद्गान कर्म उस उद्गान कर्म के द्वारा उपलक्षित ज्योतिषमादि याग है उसमें नहीं सत्य कर्म होने पर ही उद्गात्री प्राण दृष्टिया उपास्यत्व में अक्षर विवक्षण उद्गात्री प्राण दृष्टि से उद्गाता उद्गाता रूप से अक्षर की उपासना करना है प्राण दृष्टि से माने ग्रहण दृष्टि से उपासना करना विवक्षित है ओंकार उद्गीत अवयव और ओंकार जो है उद्गीत कर्म का अवयव में आता है उद्गान कर्म का अवयव है वो केवल ओंकार की उपासना तो है ही नहीं कर्मांग अवबद्ध उपासना है ये ओंकार उद्गित अवय उद्गित का अवयव है निष्ठा ये उपास्य तो ये ओंकार है न स्वतंत्र व्यापक स्वतंत्र रूप से ओंकार उपासक उपास्य नहीं है तथा च अक्षर उपासनार्थत्व न कर्माहरण इसलिए उस अक्षर ओंकार की उपासना के लिए कर्म उद्गान कर्म का आहरण है यह और ज्योतिषवादी कर्म हो जाएंगे न देहत्व रहती अविरत उपास्य उपास्यत्व तो नहीं है वो कर्म उपास्य नहीं है उपास्य ओंकारी है आश्रित विधानार्थम कर्म आरण विधुरा ये कहा दूसरे को आश्रय करके कर्म का विधान किया जैसे गोरोहन पात्र आश्रित विधान होता है समस्या न अपप्रय गोदोहन पशु का आश्रित विधान दूसरे आश्रय में आश्रित करना इसी प्रकार यहां भी कर्म में ओंकार की उपासना करना है कर्म का आश्रय लेके आश्रित विधानार्थम दूसरे के आश्रय करके ओंकार का यहां उपासना का विधान है कर्म का हरण है इति तम है इत्यादि व्याचट है इत्यादि कह दी अब उस नाशिका रूपी प्राण को असुर ने व्यधित कर दिया ये बोलना चाहते हैं तम असुरा विविधु इसका अर्थ करना चाहते हैं कहा तम एवं तम एवं देवैर वृत्तम उद्गातारम इस प्रकार से देवताओं के द्वारा जो वर्ण किया गया उद्गाता है उसको असुरा स्वाभाविक तम आत्मान या असुर शब्द का अर्थ स्वाभाविक जो वृत्तियां हैं यही है तमरूप वृत्तियां तम ज्योति रूपम नासिकम स्वच्छता नासिका जब तक अभिमान नहीं था नासिका ग्रहण इंद्रिय स्वच्छ रहा प्रकाश रूप है उसका प्राणम देवम ऐसे देवता को स्व उत्थेण पापना अधर्म आसंग रूपेण विधि विद्यवंता संसर्ग विद्यवंता इत्यादि कहा उसके अपने द्वारा उठा हुआ जो पाप है सस्मात उठता स्वत्ता अपने से उठा है पाप उनमें आसक्ति है अभिमान है कल्याण गंध कर्म मेरे कारण ये सब तो मिल रहा है मैं ही हूं कल्याण गंध कर्म कर ऐसा अभिमान के कारण से एक अभिमान में पाप से भेदित कर दिया उसी से उठा हुआ पाप से उसी को भेदित कर दिया यह कहा यार ठीक है सो उत्थेन च असुरेणा वो नासिका के द्वारा उत्पन्न जो पाप है वो आसुरेणा जो आसुरी है उसके द्वारा नासिका संबद्ध है ना नासिका में संबद्ध होने से इतिहावत अच्छा उसके द्वारा विविध माने विद्यवंत बोल दिया अधर्म आसंग तदरूपेण इतिहतस्य असंग आसंग वेद दो दिल लगा एक असंग से वेद डाला एक क्या अधर्म से वेद डाला दो है अधर्म और आसंग दो दिया है तो उनमें से पहले असंग का जो वेद दिखाते हैं कहा आसक्ति का वेद दिखाते हैं अधर्मात आसंग तद्रूपेण अधर्म से हो गया आसंग और आसंग होने से हो गया वेद एक कहना चाहते सिद्ध करते हैं सही कहा सही नासिक प्राण उसका आसक्ति है क्या है कल्याण गंध ग्रहण अभिमान आसंग अभिभूत विवेक विज्ञान बभुआ वो नासिक प्राण क्या हुआ तो कल्याण गंध ग्रहण के जो अभिमान है उस, उसमें वो जो आसक्ति है अभिमान रूपी आसक्ति है उस उस आसक्ति रूपी पाप के द्वारा अभिभूत हो गया विवेक विज्ञान जिसका अभिभूत विवेक विज्ञान यश्य अभिभूत हो गया दब गया विवेक विज्ञान नहीं रहा उसके पास ऐसा बबू द्वारा ठीक है कल्याण गंधो सुरभि कल्याण गंध सुरभि गंध सुगंधि गंध सुरभि उगता सुरभि को कहा है तस् ग्रहण मया एव इति अभिमान ऐसा अभिमान उसको मेरे द्वारा ही होता है उसके ग्रहण मेरे बिना नहीं होता कल्याण गंधो सुरभि तो उगता कल्याण गंध या सुरभि को कहा है तस् ग्रहण कल्याण गंध में ममैव अधिकार मेरा ही है दूसरा कोई नहीं ऐसा मम ये अभिमानात्मा अभिमान स्वरूप जो है ग्रहणेन्द्रिय अभिमानात्मा योयम आसंग अभिमान स्वरूप जो आसक्ति है तेन अभिभूतम उपकारो हो उसके द्वारा दब गया उपकार अन्य अन्य सभी का उपकार था उसमें इसको ग्रहण करने के लिए अन्य सभी का उपकार था किंतु उसके द्वारा अभिभूत हो गया उपकार गंध गंध आग्रहण कृत तुल्य सर्वस्व गंधा सूंघने में सबका बराबर उपकार था किंतु तो वो समझती है मेरा ही है केवल यही आशक्ति कंद आग्रहण कृत तुल्य सर्वस्व कार्यकरण संघात से शरीर इंद्रिय सबका पूरे सहयोग से वो गंध ग्रहण कर पा रही है केवल अकेले का नहीं विवेक विज्ञान ऐसा जो विवेक विज्ञान था यश्य विवेक विज्ञान दब गया तथा इत्यादि कहा विग्रह ननु कथम यथोक्त असंग स्पर्शिता इतिहास है कि असंग आसक्ति के पर्श कैसे हो गया आशंग पर्शिता या यथोक्ता असंग ने आशंग है आसक्ति का स्पर्श संबंध कैसे हो गया प्रश्न आया तो कहा सतेन इत्यादि सतेन दोष है पाप आसंगी हुआ जो दोष आ गया उसमें आसक्ति उसके पाप के संबंधी हो गए पाप पाप युक्त हो गए उगते अर्थे वाक्य में पाता है इस अर्थ में वाक्य घोषणा करते हैं वाक्य की भूमिका बनाते हैं तद इदम इत्यादि कहा तद इदम उत्तम असुरा पापना विविधो इसी को कहा गया असुर ने पाप से बेच डाला ठीक है घ्राण से आसुर पाप विद्वत्व कार्यलिंगकम अनुमान में हैं देखो कार्य से कारण का ज्ञान होता है दूर देश में जो धूम दिखाई पड़ता है तो अग्नि का परिचय होता है क्यों अग्नि का कार्य है धूम कार्यलिंगक अनुमान जब इधर बाढ़ दिखाई देता है तो ऊपर बारिश हो गई तो ज्ञान होता है इसको कार्य लिंग का अनुमान कहते हैं कार्य को देखने के बाद कारण न देखने पर भी कारण है ये जानना ये अनुमान कार्य लिंग कार्य है लिंग जिसका व्यापक कार्य है जिसका तो धूम कार्य है अग्नि का अग्नि ना होती तो धूम नहीं होता धूम है यहां तो अग्नि जरूर है ये निश्चय हो जाता है कार्य लिंग का अनुमान होता है तो यहां भी यही कहना चाहते हैं घ्राण प्राण से असुर पाप विद्यते घ्राण रूपी जो प्राण है वो आसुरी वृत्ति के द्वारा पाप से भेदित होने पर कार्य लिंगम अनुमान उसका जो कार्य है ना घ्राण इंद्रिय आदि जो दुर्गंधी सूंघ रही है हाँ। इसके मतलब पाप से वेदित है यदि पाप से वेदित न होती तो दुर्गंधी सुंगना नहीं पड़ता इसको दुर्गंधी का ग्रहण कर रही है आज ये कार्य लिंग का अनुमान है यानी घ्राण इंद्रिय पाप से वेदित है इसमें माने ऐसी अनुमिति हमें होती है किसके द्वारा जो आग ग्रह दुर्गंध का ग्रहण कर रही है इसके हेतु है और पाप से वेदित न होती जो दुर्गंध का ग्रहण नहीं करती दुर्गंध ग्रहण कर रही है इसमें पाप से वेदित ये कार्यलिंग का अनुमान यही होगा एक दिखाते यस्माद इत्यादि कहा गया यस्माद आशीर्ण प्रार्थना विद्ध जैसे कि आश्चर्यवृत्ति के द्वारा उठाया गया जो पाप था उसके द्वारा वेदित है ये तस्मात तेन पापना प्रेरित जो ग्रहण उस पाप से प्रेरित जो ग्रहण इंद्रिय है ग्रहण रूप प्राण दुर्गंध ग्राहक का प्राणायाम दुर्गंध ग्राहक बन रही है दुर्गंध ग्राहक है इसका मतलब पाप से वेदित है ये सिद्ध होता है ठीक है उक्तानुमान वाक्य में व्याकृति इस अनुमान से द्वारा इस अनुमान का प्रकाश करने वाला जो अनुमान से अवधेति तो प्रकट होने वाला वाक्य उसको व्याख्या करते हैं अतः कहा अतः तेरा उभय जिग्रति लोग लोग इस घ्राणेन्द्र के द्वारा दोनों ही सुनना पड़ता है लोगों को ये कहा दोनों माने दोनों विवक्षित नहीं है दुर्गंधि सुनना पड़ता है यह अर्थ है अतस्तेन उभयम जिग्रति होगा सूर्य विचय दुर्गंधि इत्यादि कहा क्यों उभयम जिग्रति मंत्र में है तो भाष्यकार मंत्र छोड़ के काम नहीं कर सकते इसलिए लिखा आगे तात्पर्य बताते हैं उभय ग्रहण अविवक्षित ऐसा बताएंगे ठीक है अतः शब्दार्थ हमें स्पष्ट थी पाप मना इत्यादि कहा पाप से ये विदित है एक बता दिया पाप ना ही अशुद्ध बोला ननु पापना विद्धत्वा तेन लोगो दुर्गंधम जाना थी इतने वक्तव्य ये बोलना चाहिए भाष्यकार को पाप के द्वारा भेदित होने से उस घ्राणेन्द्रिय के द्वारा लोग दुर्गंध को ग्रहण करते हैं ऐसा बोलना चाहिए जानते हैं ऐसा बोलना चाहिए ये उभयम कैसे बोल दिया वक्तव्य सूरभि ज्ञान से पाप कर्मत्व अभाव तो सूरभि ज्ञान है सुगंध का ग्रहण होना वो पाप का कर्म फल नहीं है वो तो पुण्य का कर्म है तो पाप का कैसे हम उभयम जिग्रति कैसे बोल दिया ये प्रश्न आया तथा कथम तेना उभयम जिग्रति उत्तम फिर ये कैसे कह दिया कि उस नासिका के द्वारा दोनों ग्रहण करते हैं सूर्य भी असूर्य भी कैसे बोला ये प्रश्न हुआ तो उसके उत्तर में कहा उभय ग्रहणम अविवक्षितम यद्यपि श्रुति में उभय है उभयम जिग्रति पाठ है किंतु उभय शब्द यहां विवक्षित है दुर्गंधि ग्रहण करने तात्पर्य है कहीं कहीं एक के लिए भी उभय शब्द का प्रयोग हो जाता है पूर्व मीमांसा में दिखाया एक बात ये बोलना चाहते हैं कैसे होता है कहा एक अभी अभिशोटी का भी कहा एक ही अभी है द्रवात्मक से पूर्णासाध दो प्रकार के अभी होते हैं या तो घी होगा पिघला होगा द्रव घी होगा दूध होगा घृतादि होंगे द्रवात्मक होंगे तरल होंगे या पूर्णासादि आटे आदि का बना हुआ होगा दो प्रकार के अभी होते हैं दो में से कोई भी एक अभी हो एक अभी अभिशा अभी तो एक ही है द्रवात्मक से पूर्ण दो प्रकार में से कोई भी प्रकार हो एक ही अभी होगी चाहे तरल होगा चाहे सख्त होगा कठोर होगा दो प्रकार के अभी होंगे या तो दुग्धादि होंगे घृतादि तरल द्रव रूप या पूर्णाशादि दो प्रकार कोई भी आदि हो हाँ। काकादि संबंध कौ आदि का संबंध हो गया किसी का कौ आगे बैठ गया सोच मार दिया या कुत्ते आदि का संबंध हो गया अभी तैयार करके रखा था हवन के लिए ऐसी स्थिति में कौए आदि का संबंध होने पर भ्रंग से भ्रष्ट हो गया अभी अब काम भी नहीं हुआ वो अब क्या करना उसके लिए अभी भ्रष्ट हो गए भ्रंग से भ्रष्ट होने पर प्राश्चित सत्य भी प्राश्चित है एक ही हबी के बिगड़ने पर प्राश्चित का विधान है किंतु वहां उभयम शब्द का प्रयोग कर दिया है मंत्र में सत्य यश उभयम हबीर आरतिम आरक्षति ऐसा शब्द आया वहां मंत्र है जिस यजमान के दोनों ही हबी अशुद्ध को प्राप्त हो जाती है अशुद्धि को प्राप्त हो जाती है आर्चति यश उभयम अवीर आरती में आर्चति स इंद्रम पंच शराबम ओदनम निर्भवेद आया वो इंद्र संबंधी पांच शराबों में पका करके हवन करे इंद्र याग करे इंद्र याग करे इंद्र संबंधी याग करे जिसके अभी बिगड़ गई हो कवि आदि का संबंध हो गया हो दूषित हो गई हो तो इंद्र संतुष्टि के लिए इंद्र कुपित हो गया था वहां तो इंद्र को संतुष्टि के लिए याग करेंगे इंद्र याग करेंगे स ये मंत्र है वहां मंत्र का प्रतीक है यश उभय हवीर आरती आर्थती जो दोनों ही हवि उभय शब्द आया हुआ है है तो हवि एक ही हवि बिगड़ी हुई है कवि आदि के संबंध से शुद्ध हवि की नहीं है अशुद्ध हवि है इसके लिए दोष हटाने के लिए हवीर आत्मार्थति दूषित हो गई हो तो उस सब वो व्यक्ति क्या करे ऐन्द्रम पंच शराबम ओदनम इंद्र संबंधी जो पांच शराबों में चावल को तैयार करे आगे हवन करने के लिए ऐसा आया इत्यत्र उभय ग्रहण अविवक्षित इस मंत्र में उभय ग्रहण अविवक्षित है एक ही दूषित तो एक ही हुआ है ना कौए के द्वारा फिर भी वो उभय शब्द का प्रयोग है जैसे वहां उभय ग्रहण अविवक्षित है स्थितम यदि प्रथम तंत्र प्रथम अध्याय में है पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय में है तथा अत्रापि यह भी यही समझ रहा है इस मंत्र में वही समझ रहा है या उभय ग्रहण विवक्षित नहीं है उभय जिग्रति मंत्र में है किंतु एक ही होगा उसको दुर्गंधि सूखना पड़ता है यह अर्थ होगा ये अर्थ कहा यश इत्यादि कहा यश ओवम हवीर आर्थिक आर्चती इति तद्वत जैसे वहां पूर्व तंत्र में दिखाया हुआ है मंत्र ला करके दिखाया है यश ओहम हरिम आर्तिम क्षति कहा उसी प्रकार यहां भी समझना वहां दोनों अभी बिगड़ना नहीं है एक एक ही अभी बिगड़ी हुई है कवि आदि के संबंध से उसी के दोष के निवारण के लिए इंद्र याद बोला हुआ है ठीक इसी प्रकार यहां भी समझ कहा ठीक है न केवलम पापना ही इति वाक्य शेषात अत्र उभयग्रहण अभिवक्षित किंतु बाल सनय के कहते हैं केवल पापना ही सब विद्या ये वाक्य है यहाँ तो इसके कारण से यहाँ पर उभयग्रहण अविवक्षित ये बात नहीं है पाप के द्वारा विदित कहा ना पुण्य के द्वारा विदित तो नहीं कहा तो इतने कहने के कारण उभय ग्रहण विवक्षित नहीं है नहीं समझना इसी के समान प्रकरण वृद्धार्ग में वहां पर स्पष्ट है ये कहना चाहते हैं किंतु बाद समय के वृद्धार्ग कहा यथा यथोक्त उदगित विद्या विषय थे जैसे यहाँ उदगित विद्या प्रकरण उपासना प्रकरण है वैसे वहां भी है उदगित उपासना प्रकरण वाचन में वहां इसी का विषय बनाकर समान प्रकरण जैसे प्रकरण है वैसे प्रकरण वहां वृद्धारण में समान प्रकरण में यदेव इदम अप्रतिरूपम जिघ्रती ये कहा ये जो नाशिका जो है ना जो दुर्गंधि को ग्रहण करती है कहा सैव पापमा यही पाप है ऐसे कहा हुआ पुण्य की बात नहीं आई किस अत्रापि पाप में वेद वसा दिया अभी पाप के वेद के कारण से दुर्गंधम जाना लोग लोग क्या दुर्गंध को जानता है इतव वक्तव्य इतने कहना चाहिए उभय शब्द यहां विवक्षित नहीं है अविवक्षितम उभय ग्रहण इत्या इसलिए अविवक्षित है उभय ग्रहण तो बताए आगे कुछ छठे मंत्र तक भाष्य एक साथ है समान है जैसे यह है वैसे आगे भाष्य वैसे ही है मंत्र है आगे अथ वाचम उदीतम उपासम चक्रीरे तामहासुरा पापना विविधु तस्मात्तया वयम वदती सत्यम चादृत पापना हे सबिद्धा अतः वाचम उदीतम उपाशा चक्रीरे तामहासुरा पापना विविधु तस्मात्तया उभयं वदति सत्यं चादृतं च पापना एषा विद्धा अथ च चक्षुरुदीतमुपासां च क्रीडे तद्धासुरा पापना विविधो तस्मात्ते नो भय पश्यति दर्शनीय च पापना च पापना अतः चक्षुरुदीतमुपासाम् च क्रीडे तद्धासुरा पात्मना विविधु तस्मात्तेनो भयम् पश्यति दर्शनीयम् चादर्शनीयम् च पात्मना अतः श्रोत्रम् उदीतमुपासाम् तद्धासुरा पात्मना विविधु तस्मात्तेनो भयम् शृणोति श्रवणीय श्रवणीय आपना हेतद विद्धम अथ श्रोत्रमुदीतमुपासा चक्रीरे तद्धासुरा पापना विविधु तस्मात्नोभय शृणोति श्रवणीय श्रवणीय आपना हेतद विद्धम अतः मन उदीतमुपासा चक्रीरे तद्धा सुरातात्मना विविधु तस्मात्नो भयम संकल्पयते संकल्पनीयम च पापना हे तद्विद्धम अथ मन उद्गीतम उपासान चक्रीरे तद्धा सुरातात्मना विविधु तस्मात्नो भयम संकल्पयते संकल्पनीयम चा संकल्पनीयम च पापना है तद्विद्धम समान है यहाँ तो पांच इंद्रियों का नाम है ग्रहण बता दिया आगे वाणी है चक्षु है स्रोत्र है मन है किंतु सभी इंद्रियों के लिए उपलक्षित है प्रत्येक इंद्रियों को उद्गान के लिए कहा ये समझना अथा वाचम उद्गितम वाचा फिर वो दैवी वृत्तियों ने क्या किया जब नासिका वेदित हो गई उसके आसक्ति के कारण तो दूसरे इंद्र को दे दिया मौका भाई उद्गान करो तो बाघ दृष्टि से ओंकार की उपासना की वहां भी फेल हो गए क्यों वहां भी वाणी को भी अभिमान है ये जो बोलने का श्रेय है ना मेरे कारण सबको फल मिल रहा है मैं नहीं बोलती तो इनको क्यों पूजा सम्मान होता सम्मान सबको मिलता है मैं बोलती हूं मैं किंतु महात्मा बड़े अच्छे हैं सम्मान पूरे को हो रहा हाँ, कोई सम्मान होता है तो उसको भी आसक्ति है यह आसक्ति भी पाप के द्वारा मौका मिला आश्रय वृत्ति ने उसी के द्वारा उठा हुआ पाप से उसी को बेच दिया इसलिए वाणी दोनों प्रकार की वाणी बोलती है बोलने योग्य बोलती है न बोलने योग्य बोलती है कहा सत्य भी बोलती है झूठ भी बोलती है क्योंकि यहाँ वो भी उभय ग्रहण या भी अपरोक्षित है असत्य बोलती इसी कारण इतना अर्थ है यहाँ सत्य बोलना तो पाप का वेदन का फल नहीं है असत्य बोलना ही है पाप का फल पाप का फल है जो पाप से वेदित हो गए जिसकी वाणी बार बार झूठ बोलता रहेगा इसी प्रकार जब वाणी भी फेल हो जाती है असमर्थ हुई तो स्रोत्र मान स्रोत्र दृष्टि से ओंकार की उपासना की ऐसा है चक्षु अच्छा अच्छा चक्षुर चक्षु दृष्टि से ओंकार की उपासना की उसको भी पाप से व्यतीत क्यों ये देखने का जो दर्शन का फल सबको मिल रहा है मेरे कारण है उसको भी अज्ञान है कोई पाप के द्वारा व्यतीत कर दिया इसलिए उसको न देखने योग्य भी देखना पड़ रहा है जो देखने योग्य नहीं उसको भी देखना पड़ता है पाप का फल है फिर स्रोत्र की बारी आ गई वैसे स्रोत्र दृष्टि से उपासना की ओंकार की वहां भी स्रोत्र में भी है जो शब्द मैं सुनता हूं ना अच्छे शब्द सुनता हूं तो सबको फल मिलता है नहीं तो दूसरे को मुश्किल पड़ जाएगा ऐसा पाप है वही पाप के द्वारा व्यक्ति कर दिया फिर मन को भी ऐसे ही मन मन दृष्टि से उपासना की ओंकार की वहां भी तो हो गया है उसको भी घमंड है जो मैं संकल्प करता हूं उसी के कारण सबको फल मिलता है उसका तो उसको भी आसक्ति है उस आसक्ति से व्यतीत कर दिया इसलिए जो संकल्प नहीं करना सोचना नहीं चाहिए ऐसे भी सोचता रहता है गलत सोचता है पाप से वेदित है ठीक है लगाते हैं ननु नासिक से प्राण से पाप विद्वत्वात अनुपास्यत्व सिद्धे जब नासिक प्राण है पाप के द्वारा वेदित है तो उपास्य नहीं सिद्ध होने पर न्याय साम्या युक्ति समान है सबके लिए युक्ति एक ही युक्ति है साम्या बाघादि नाम भी नौपास्यत्व सिद्ध थी बाघादि भी उपास्य नहीं सिद्ध हो जाएगा इसमें आपसे व्यतीत सिद्ध हो जाएगा तद क्यों उत्तर ग्रंथ है आगे भी ग्रंथ क्यों लेते हैं बाचक विधान चक्र आदि क्यों कहा है क्यों कहा जब नासिका पता लगा तो इंद्रिय सब पाप से व्यतीत है पता लग गया तो आगे के ग्रंथ क्यों ये प्रश्न उठा तो कहा यह मुख्य प्राण की स्तुति करनी है मुख्य प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना करना प्रशंसा है इसके लिए ये भाष्य कहा मुख्य प्राण से उपास्यत्वाय माने मुख्य प्राण की उपास्य तो नहीं है मुख्य प्राण दृष्टि से ओंकार की उपासना उपास्यत्वाय तद विशुद्धत्व अनुभवार्थ हो मुख्य प्राण विशुद्ध है मुख्य प्राण का जो विषय होगा वो शुद्ध होता है उसमें अभिमान नहीं है रात दिन चल रहा है ये तो कुछ घंटे ही चलते हैं तब भी अभिमान इनमें है किंतु वो जब जब से जीवन प्राप्त हुआ जब से मरण नहीं होगा चलता रहता है फिर भी अभिमान है खा के व्यक्ति सो गया आराम से किंतु प्राण को चलता रहना पड़ता है ये तो सो जाते हैं सर ये काम नहीं करते किंतु प्राण चला चलता रहता है कोई अभिमान नहीं निर्विमान है इसके लिए उसकी प्रशंसा करनी है ये बोलना चाहते हैं मुख्य प्राण से उपास्यत्व आया मुख्य प्राण उपास्य है इसके लिए तद विशुद्धत्व अनुभव तो वो विशुद्ध है अनुभव के लिए अयम विचार है ये बाघ आदि के विचार इसलिए किया जाता है स्मृतिया प्रवर्तित स्मृति के द्वारा प्रवर्तन कर दिया जाता है अतः चक्षुरादि देवता क्रमेण विचार्य चक्षुरादि देवताओं को एक एक करके क्रम से विचार किया सब पाप से वेदित पाए गए विचार आसूर्य पापमा विद्धा इति अपोजनते ये सब त्यागे जाते हैं इनकी उपासना नहीं होती इनकी दृष्टि से उदित उपासना नहीं होगी समान बाकी तो समान है भाष्य समान है पूर्व मंत्र का जैसा ये कहा अतः पाचम चक्षु स्त्रोत्र मन इत्यादि समान है अनुता अपनी न्याय अन्य अनुक्त जो अन्य इंद्रिया है या तो पांच इंद्रियों का नाम लिया है बाकी अनुक्त है तो अनुक्त अन्य इंद्रिया भी जितने त्वग रसनादि देवता त्वग है रसना है हाँ, जितने भी हैं सबको द्रष्टव्य समझ लेना चाहिए क्योंकि एवं खलु एता देवता पाप भी सुविधा वृत्ताद का है एवं ही खलु एता देवता बहुवचन से बोल दिया सारे देवता जितने भी थे चक्षुरादि जितने भी हैं सब पाप से वेदित हो गए हाँ, बहुवचन से बोला हुआ है तो सबको लेना है यहाँ यहाँ सबका नाम नहीं लिया है पांच इंद्रियों का नाम लिया है सारा करके किंतु तो सब इंद्रियों को लेना समझना ये कहा सब आप से देखिए समझना कहा ठीक है न्याय साम्य भी मुखतो निराकरणा भावे मुख्य प्राण से उपास्यत्व यदि अनिश्चयात तद उपास्यता दार्यार्थम मुखतो भागादिनम उपास्यत्व तुम उत्तर ग्रंथ इत्यर्थ कहते हैं न्याय तो है जब एक फेल देखा जो नासिका में देखा पाप से भेदित होते सारे इंद्रिया पाप से भेदित तो होंगे तो अन्य इंद्रियों की चर्चा क्यों तो न्याय सामने होने पर भी स्पष्ट न बोलने पर प्रत्यक्ष न बोलने पर मुख तो निराकर लाभावे स्पष्ट रूप से निराकरण न करने पर मुख्य प्राण से उपास्य तो यदि अनिश्चय मुख्य प्राणी उपास्य है ऐसा निश्चय नहीं हो पाएगा अनिश्चय हो सकता अन्य इंद्रिय हो उपास्य ऐसा होगा अनिश्चय तद उपास्य कार्यातम उस मुख्य प्राण की उपासना दृढ़ता करने के लिए मुखतो बाघादिनम उपास्यत्व अपाकरम अपाकर्तम स्पष्ट रूप से बाघादि इंद्रियों के जो उपास्यत्व है उसके निराकरण करने के लिए उत्तर ग्रंथ है कहता है आगे ग्रंथ इसलिए विद्या की विचारीय क्रमेण अपोहित संबंध सबके सब पाप से वेदित है ऐसा जान विचार करके एक एक करके सबका निराकरण कर दिया त्याग दिया जाता है उपास्य नहीं माना जाएगा उत्तर वाक्यु अक्षर व्याख्यानम अपेक्षितम पूर्वेण समानत्व अनपेक्षित आगे के वाक्य के प्रत्येक शब्दों के अर्थ करने की आवश्यकता है पूर्व में जैसे कहा था नासिका विषय वैसे है सारे वैसे समझना कहा समानम अन्य बोल दिया अवशिष्ट वाक्य के देश ग्रहणार्थम आदि पदम आदि दिया हुआ है आदि किसने दिया है कि अतः वाचम चक्षु श्रोत्रम मन इत्यादि यह आदि किस लिए अवशिष्ट इंद्रियों को लेना अवशिष्ट वाक्य के देश ग्रहणार्थम आगे जो वाक्य का एक देश आएगा वाक्य के देश अनितम अवशिष्ट वाक्य के एक देश में जो अनित होंगे संबंधित होंगे अवशिष्ट है कुछ बाकी है उसके लिए आदि लगा दिया अन्य इंद्रिय बाकी है एक टिप्पणी बता दिया वाक्य के देश अनितम अवशिष्ट वाक्य के एक देश में जो संबंधित होंगे वाक्य पूरा हुआ नहीं अभी और भी बाकी है कोई है अवशिष्ट तो अवशिष्ट को लेने के लिए आदि पद लगा दिया भाष्यकार ने आगे टीका में कहते नमो घृणादि नाम पाप विद्वत्वाद अनुपास्यत्व की घृणादि इंद्रिय जो है पाप के द्वारा वेदित होने पर उपास्य नहीं होंगे ठीक है मान लिए उपास्य नहीं फिर भी तोगा आदि का तो नाम नहीं आया ना यहाँ यहाँ तो घ्राण आया है बाक आया चक्षु सुरत्र मन यही पांच का नाम आया तोगादि इंद्रियों का नाम नहीं वो उपास्य हो सकते हैं आदि पांच का तो नाम लिया श्रुति ने तो यही है नानु ग्राणादि नाम पाप में विद्वत्वात अनुपास्य ग्राणादि इंद्रिया पाप से वेदित होने के कारण उपास्य न होने पर भी तोगादि नाम जो त्वगादि इंद्रिया है अश्रुत है सुनाई नहीं पड़े यहाँ त्वगादि त्वगादि नाम तद विद्वत्व अनुपास्यत्व वचनात् तो अवचनात् पाप के द्वारा वेदित होने से अनुपास्य ऐसा वचन नहीं है यहाँ श्रुति में वचन नहीं है पांच इंद्रियों का नाम लिया है घ्राण हाँ। चक्षु श्रोत्र बाप और मन यही आया है तो नानु प्राणा घ्राणादि नाम पाप विद्वत्वाद ये पांच इंद्रिय पाप से द्वारा वेदित होने से अनुपाष्य होने पर भी त्वगादि त्वगादि का तो नाम नहीं आया चर्चा नहीं आई त्वगादि नाम तद विद्वत्व अनुपाश्य तो अवतनाथ पाप के द्वारा वेदित होने से उपास्य नहीं है ऐसा वचन नहीं है अवचन है अवचनात् मुख्य से प्राण से उपास्य तो न मुख्य प्राणी उपास्य है निश्चय नहीं होगा ये शंका आगे तो कहा अनुक्ता है इत्यादि बोल दिया भाष्य में अनुक्ता अभी अन्य त्वग तो आदि देवता द्रष्टव्य अन्य भी इंद्रिया जितने भी सब ऐसे समझ ये कहा उक्ता नाम अनुक्त उपलक्षण वृद्धारण में संवादय थे जो जितने कहे गए पांच इंद्रियों का नाम दिया है यहाँ बाकी अनुक्त है पांच तो जो कहे गए हैं अनुक्त का भी उपलक्षण है स्वग्राहकत्व सदी स्वइतर ग्राहकत्व उपलक्षण से लक्षण उपलक्षण का स्वरूप तो ये होता अपना ग्रहण करता हो अन्य का भी ग्रहण कर दे ये उपलक्षण कहते हैं इसको तो ये उक्त जो पांच है उपलक्षण मानने में इनका उपलक्षण मानने पर वृत्तार्मिक श्रुति संवाद देते हैं अनुता का उपलक्षण इसे दिया एवं उ खलु एता देवता पाप भी इत्यादि आया ऐसा ये देवता पाप के द्वारा व्यवहित हो गए वहां बहुवचन है सभी का लिया है तो यहां भी सभी को लेना है ये कहा बाकी समान है समय हो गया है यह रखते फिर करेंगे आगे ओमाप्यायन्तु महाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुस्तोत्रबलवीर्याणि च सर्वाणि ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्त्वनिराकरणवेरस्तु तदानिरते यौपनिषत्सु धर्मास्ते मयि ते मयि ओम शांति शांति